जब हमने उनके पास दो को भेजा सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया फिर हमने तीसरे से तायद की सो इन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं